द्वितीयपाद के एकादश सूत्र में पहले संप्रज्ञात समाधि अवस्था में चित्त का परिणाम समाधि परिणाम चित्त में बताया सर्वार्थता एकाग्रता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्त से समाधि परिणाम उसके पश्चात चित्त में एकाग्रता परिणाम समाधि अवस्था में तथा पुनः शांतोदित तुल्य प्रत्यय चित्त से एकाग्रता परिणाम है तुल्य प्रत्यय पूर्व शांत आगे उदित एकाग्रता परिणाम ऐसा चित्त में धर्म परिणाम कहा गया चित्त परिणाम धर्म परिणाम कहने से धर्म लक्षण अवस्था रूप परिणाम एतेन भूतेन्द्रियु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता है धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम भूतेन्द्रिय में इनका भी व्याख्यान हो गया धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम ये तीन प्रकार है तो धर्म परिणाम कहने से धर्म में लक्षण परिणाम होगा अवस्था परिणाम ऐसा समझना पहले भाष्य में आया लक्षण परिणाम उत्थान निरोध धर्म अविर्भव प्रादुर्भाव धर्म धर्म परिणाम उत्थान हो निरोध हो ये दोनों चित्त के धर्म है धर्मी में धर्म का परिणाम है वित्थान लक्षण का अविभव और निरोध धर्म प्रादुर्भाव होगा ये धर्म परिणाम हुआ और लक्षण परिणाम कहने के लिए निरोध में त्रिलक्षण तीन लक्षण है तीन काल है त्रिवीर अर्धवीरुक्त कहा अनागत लक्षण पहले अनागत है प्रथम उसको छोड़ करके द्वितीय लक्षण को प्राप्त करता है वर्तमान लक्षण होता है किंतु धर्म तो रहता है धर्म तो का अतिक्रमण नहीं करके केवल वर्तमान लक्षण हो गया सर्वतः रहता है चित्त ये द्वितीय लक्षण हुआ न च अतीत अनागताभ्याम लक्षण काम विभूत पहले अनागत था अभी वर्तमान हो गया आगे अतीत होगा तो अतीत अनागत ही जो लक्षण से विवृत नहीं होता है सूक्ष्म रूप से रहता है टीका में दिया अनागत लक्षण उत्थान प्रथम छोड़ करके धर्मत्व तो अतिक्रम करेगा तो उत्तर दिया धर्मोत्तम अनतिक्रांत सैव निरुद्ध अनागत आशित पहले अनागत था जो अभी वर्तमान हो गया निरुद्ध तो है तो निरुद्ध अनिरुद्ध वर्तमान का स्वरूप व्याख्यान यत्रा से स्वरूपेण अभिव्यक्ति यह हो गया था और सोचित अर्थ क्रियाकर्म करना होता है आविर्भाव होता है ये प्रथम अनागतम अध्ययन अपेक्षा द्वितीय अध्यादित्य का लक्षण काल हुआ क्या देखा अनागतम होता चेत वर्तमान वर्तमान काम अपन फिर वर्तमान को छोड़कर के अतीत हो जाएगा तो अर्थों की उत्पत्ति नाश हो जाए किंतु उत्पत्ति नाश नहीं मानते सांख्य योग सिद्धांत में पहले जो नहीं हो असत्य की उत्पत्ति नहीं होती है सत्य का विनाश नहीं होता है तो घट की उत्पत्ति घट यदि उत्पत्ति के पहले अविद्यमान है जैसे तार्किक लोग मानते नया के लोग असत घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती है असत बंध्या पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती है और का विनाश नहीं होता है इसलिए उत्पत्ति विनाश नहीं उत्पत्ति अर्थ प्रादुर्भाव विनाश का तिरुभाव इसलिए अनागता अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम न युक्त सामान्य रूप से अतीतता अनागतता है उससे युक्त नहीं होता है निरुद्ध में वर्तमान का अनागत और वर्तमान दोनों देखा करके अभी तृतीय मार्ग कहते हैं वर्तमान का लक्षण दर्शित वर्तमान व्युत्थान से अतीतता तृतीय मतदान आह निरोध में अनागत निरोध और उसमें वर्तमान का कह करके अभी निरोध का तृतीय क्षण अतीतता नहीं कह करके अभी व्युत्थान का कहते तृतीय तो निरोध भी व्युत्थान दोनों में से त्रिलक्षण है परिणाम लक्षण परिणाम पहले अनागत वर्तमान फिर अतीत ये तीन क्षण जैसे निरोध में ऐसे वित्थान में है अभी वित्थान कहते त्रिलक्षण त्रिविर युक्त अध्यय कालवाचक अर्थ मार्ग होता है यहाँ कालवाचक तीन काल विशेष से युक्त है वर्तमान लक्षण युक्त धर्मत्व अनतिक्रांतम अतीत लक्षण प्रतिपन्न अभी जो वित्थान है वर्तमान है उसमें वर्तमान लक्षण विख्यान धर्म में उसको छोड़ करके आगे अतीत हो जाएगा तो धर्मत्व रहे धर्म तो है धर्मत्व अनतिक्रांतम अतीत लक्षण प्रतिपन्न प्राप्त हुआ ये हुआ इसका तृतीय परिणाम अनागत वर्तमान नानाभ्याम लक्षण का व्युतम जब अतीत हो जाएगा उस समय अनागत वर्तमान लक्षण दोनों नहीं रहे समाप्त हो गए नष्ट हो गए ये बात नहीं नाश नहीं होता है तो सामान्य रूप से रहता है टीका नहीं तत्किन निरोध एवं अनागत न मिठान निरोध ही अनागत होगा वित्थान क्या अनागत नहीं होगा नित्य एवं पुनर्वित्थान आगे आएगा भाषण में पहले ये से स्वरूपेण अभिव्यक्त सत्यम व्यापार वित्थान वर्तमान होता है जो स्वरूप होने पर व्यापार होता है नहीं पहले एवं पुनर्वित्थान उपसंपद्यमान अनागत लक्षण हित्वा धर्मत्व अनतिकांत अनुत्क्रांतम वर्तमान लक्षण प्रतिपन्न ये एवं एवं पुनर्वित्थान जैसे वित्थान पहले वर्तमान को छोड़ करके अतीत हुआ इसी प्रकार वित्थान उपसंपद्यमान अनागत लक्षण छोड़ करके धर्म प्रमाणिक्रम वर्तमान हो जाएगा से सर्वपूर्ण अभिव्यक्त हो सत्याम व्यापार वित्थान अभिव्यक्त होगा प्रादुर्भाव होने से मिथ्या में व्यापार चित्त का व्यापार होता है ये सो अस्य द्वितीय अथवा वर्तमान होता है न तो अतितरणागता ध्यान लक्षण था व्युतमिति तो अतितरणागत लक्षण दोनों रहित तो नहीं होता है इसी प्रकार एवं पुनर्निरोध एवं पुनर्वित्थान निरोध वित्थान ऐसे होते हैं अतीत वर्तमान अनागत पहले अनागत फिर वर्तमान व्यतीत टीका में अभिव्यक्ति का तो समुदाचार इस ओर प्रथम अनागतम अध्वानम अपेक्षा द्वितीय अध्वा हुआ अनागत को छोड़ करके उसकी अपेक्षा द्वितीय मतलब वर्तमान हुआ सियादेत अनागतम अध्वानम हित्वा चेत वर्तमानतमापन्न ताम से हित्वा अतीतता अतीततामापत्स्यते अंतर्भूर अध्वना उत्पत्ति विनाश हो विषयाता न चैष्यते असत उत्पादन नाप सत विनाशी तथा न चय हो गया न तो अतीत अनागताभ्याम सामान्य आत्मनावर्तिताभ्याम्यूत अतीत अनागत वर्तमान अवस्था में भी है सामान्य रूप से स्थित है इसे व्यूत नहीं होता है अनागत से निरोध से वर्तमानता वर्तमानता लक्षण दर्शेगा निरुद्ध पहले अनागत था हुआ नहीं था अभी हो गया तो वर्तमान हो गया वर्तमान वित्थान से अतीततान वर्तमान वित्थान अतीत हो जाएगा तत्व निरोध है अनागत तो न वित्थान अनागत तो निरुद्ध होगा वित्थान अनागत तो नहीं तो नेत्य ऐसा नहीं निरोध के बाद वित्थान वित्थान के बाद निरोध एवं पुनर् निरोध एवं पुनर्व्युत्थान थी हो व्युत्थान जाति अपेक्षा पुनर्भाव न व्यक्ति अपेक्षा ये पुनर्वित्थान पुनर् का व्युत्थान सामान्य सब व्युत्थान को लेकर के जाति अपेक्षा पुनर्भाव क्योंकि जो व्यक्ति पहले थी वो व्यक्ति दोबारा नहीं होती है पुनर्वित्थान पुनर्वित्थान बीज है वृक्ष हो गया वृक्ष से फिर बीज निकल फिर बीज है वृक्ष तो बार बार वृक्ष होना जो वृक्ष पहले था वही वृक्ष दोबारा होता है जो बीज पहले था वृक्ष से फिर वही बीज होता है दूसरा बीज होता है हाँ व्यक्ति को लेंगे तो एक नहीं है बीज से फिर वृक्ष वृक्ष से फिर बीज किन्तु जिस बीज से वृक्ष होता है वृक्ष से वो बीज की उत्पत्ति नहीं होती आम्र बीज से आम्र वृक्ष हुआ आम्र वृक्ष से क्या आम बीज निकलेगा या कटहल निकलेगा तो वही बीज निकला ना वो तो व्यक्ति एक नहीं है जिस बीज से वृक्ष हुआ था वृक्ष से तजाते बीज हुआ अनेक बीज होते हैं जिसे एक व्यक्ति से हुआ था वो व्यक्ति की उत्पत्ति होगी ऐसे में बीज है इसे वृक्ष लगा कर जब फिर आ जाएगा बीज होगा ये बीज की उत्पत्ति होगी इसके सजाते अनेक बहुत हो जाएंगे इसी व्यक्ति के नहीं इसी प्रकार वित्थान को आते निरोध निरोध हो जाते वित्थान पुनः पुनः व्युत्थान पुनः पुनः निरोध होगा पुनः पुनः तो मतलब जो वित्थान व्यक्ति पहले था व्यक्ति थी वो व्यक्ति आगे है व्यक्ति अलग अलग है तो पुनः भाव कैसे होगा बार बार इसलिए जो व्युत्थान जाति अपेक्षा पुनर्भाव तो सजातीय है न व्यक्ति अपेक्षा है अतीत व्यक्ति फिर नहीं होती है न व्यक्ति अपेक्षा नहीं अतीतम पुनर्भवती यदि स्वरूपाभिवृत्ति अतीत पुनर् नहीं होता है स्वरूपाभिवृत्ति का अर्थ भाष्य में आया यात्रा से स्वरूप अभिव्यक्ति हो सकता है व्यापार अर्थ क्रिया क्षम से आविर्भाव स्वरूप अभिव्यक्ति अर्थ क्रिया प्रयोजन से के लिए समर्थ प्रकट हो जाता है सच एवं लक्षण परिणाम उत्तर धर्म परिणाम के बाद आ गया लक्षण परिणाम आ गया तजातीयु पौन पुण्य न वर्तते त्या तजातीय व्यक्ति में बार बार होता है एवं पुनः वित्थान एवं पुनः निरोध धर्म परिणाम सूचितम एवं अवस्था परिणाम आ धर्म परिणाम के द्वारा जिस प्रकार लक्षण परिणाम सूचित है ऐसा अवस्था परिणाम भी सूचित शब्द से तो नहीं कहा अवस्था परिणाम भी ऐसे होगा आ तथा अवस्था परिणाम अवस्था परिणाम भी इस प्रकार है तत्र निरोध क्षणेश निरोध संस्कार बलवंतो भवंती निरुद्ध क्षण में समय में निरुद्ध अवस्था में निरुद्ध जन्य संस्कार बहुत होंगे वो बलवान होते हैं और दुर्बला वित्थान संस्कार जन्य संस्कार दुर्बल होते हैं समाज अभ्यास करने पर पहले बहिर्मुखता वृत्ति है चित्त में संस्कार है एकाग्र करने पर निरोध करने पर निरोध जन्य संस्कार अधिक अधिक होते हैं वित्थान संस्कार दुर्बल होते कम होते हैं ठीक है धर्माना मैं आगे बात से ऐसा धर्माणाम अवस्था परिणाम धर्म का ये अवस्था परिणाम टीका में धर्म वर्तमान अर्थान बलवत्वावलवत्व अवस्था जो वर्तमान क्षण है उसमें बलवत्व और अबलवत्व अवस्था है वित्थान संस्कार दुर्बल हो गए और निरुद्ध संस्कार प्रबल हो गए बलवत्व हो गए ये अवस्था है अस्या प्रतिक्षण तारतम्य परिणाम अस्या अवस्थाया अवस्था का प्रतीक्षण तारतम्य तरतम से भाव तारतम्यम एक होता तर एक होता तम दिवजन विभज्य पद तर व्यसन तरप होता है और बहुत में तमक होता है अतिशान्य तम विषम तरतम भाव तारतम्यम मंद मंदतर मंदतम नूतन नूतनतर नूतनतम इस पर तारतम्य परिणाम उपसार करते ऐसा एस धर्माणाम अवस्था परिणाम ठीक है परिणाम भेदानाम संबंधी भेदा निर्धारयति अनुभव अनुसारात तंत्र ने तत्र तत्र अनुभव अनुसारात तत्र धर्म तत्र है बना है तत्र तंत्र पाठन नहीं होगा तंत्र ऐसे ही तंत्र अनुभव अनुसार परिणाम भेदान संबंध भेदा तो निर्धारित परिणाम विशेष अलग अलग है उनके संबंध भिन्न होने से निश्चय करते हैं इसमें क्या तंत्रानुभव तंत्र तो शास्त्र और अनुभव के अनुसार कहीं पाठ है तत्र अनुभव अनुभव के अनुसार शास्त्र है और अनुभव दोनों हो जाएगा तत्र धर्मिण भाष्य में धर्मिणो धर्म ही परिणाम एक धर्मी है उसमें धर्म अलग अलग होते हैं धर्म से परिणाम हुआ चित्त धर्मी में धर्म वित्थान अनुरोध तो परिणाम हुआ जैसे सुवर्ण में कुंडल कटक आदि परिणाम नाम लक्षण ही परिणाम धर्म हो गया धर्म में फिर लक्षण अनागत वर्तमान अतीत लक्षण परिणाम होगा और नाम अपने अवस्था भी परिणाम लक्षण का भी वर्तमान अवस्था है वर्तमान लक्षण में अवस्था अवस्था नूतन नूतन तरह के अवस्था परिणाम है एवं धर्म लक्षणावता परिणाम शून्य न क्षण गुणवत्तम अवतिष्ठते धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम तीन प्रकार परिणाम से शून्य परिणाम के बिना एक क्षण भी गुण का गुणवत्तम गुण का विकार नहीं रहता है गुण तो ये धर्म लक्षण अवस्था परिणाम से युक्त होकर के रहता है चलम से गुणवत्तम गुण का विकार संचय होता है टीका में तत्किन ऐसा परिणाम गुणा नाम कादाचित को गुण में ये परिणाम कदाचित कभी कभी होते नेत्या एवं एवं धर्म लक्षण अवस्था परिणाम ही हमेशा ही परिणाम होता रहता है तस्मात पुनर्यम परिणाम सदातन इत्यता ये परिणाम धर्म लक्षण अवस्था परिणाम सदा भव सदातन निरंतर हमेशा क्यों होते हैं उसका उत्तर दिया चलम च गुणभूतम गुण का वृत्त प्रचार चंचल है चलम च जो च है चो है चो क्या होती है चोर प्रथम है चोर च शब्द क्या सु आया हसी जो हो गया है अव्यय है ना च क्या विसर्ग होता है कहीं यहाँ च का अर्थ च शब्द च क्या अर्थ क्या है च शब्द च का अर्थ जो समुचय भी ऐसे अर्थ नहीं च शब्द रूपम शब्द से अशब्द संज्ञा जो व्याकरण संज्ञा में है उसे नाम यदि लेंगे तो स्वरूपम लेना अपना स्वरूप च का अर्थ च शब्द चलम च च शब्द है हेतु अर्थ में यत गुण चल चलम गुणवृतम तस्मात क्षणमपि न अवगुण वृत्तम अवतिष्ठते वृत्तम का तो वर्तन प्रचार एतदेव कुत इत्यतः चंचल क्यों है गुण साभाव्यंतु प्रभृति कारण उत्तम गुणानामिति गुण प्रवृत्ति कारण है गुणों के प्रवृत्ति का कारण क्या गुण स्वभाव ये गुण का स्वभाव ही है परिवर्तन होता रहता है उत्तम उत्तम इति अत्रैव पुरस्कार स्वयं त्रिविधो भी चित्त परिणाम भूतेन्द्रिय सूत्र कारण निर्दिष्ट इत्याह ये पहले का तीन प्रकार परिणाम है चित्त का धर्म लक्षण अवस्था परिणाम चित्त परिणाम भूतेन्द्रिय सूत्रकार ने निर्दिष्ट जैसे चित्त का परिणाम होता है ऐसे भूत में इंद्रिय में भी परिणाम होता है ऐसे सूत्रकार ने कहा भूतेन्द्रिय धर्म धर्म वेदात त्रिविध परिणाम वेदितव्य है भूत में इंद्रिय में भी इस प्रकार तीन प्रकार परिणाम समझना है त्रिविध परिणाम ठीक है ना ऐसा त्रिविध परिणाम धर्म धर्म भेदा धर्म धर्मिणोर भेदम आलक्ष्य धर्म और धर्म दोनों के भेद को भेद उद्देश्य करके भिन्न मान करके तत्र भूताना पृथ्वी आदि नाम धर्मिणाम गवादिर घटादिर व धर्म परिणाम भूत पृथ्वी जल आदि ये धर्मी हो गए उनमें धर्म परिणाम हो गया गवादि घटादि गो शरीर परिणाम धर्म परिणाम और धर्म जो हो गया घटादि है धर्माणाम से अतीत अनागत वर्तमान रूपता लक्षण परिणाम वही घट है अतीत पहले अनागत था अभी उसके बाद अनागत वाले क्या होगा वर्तमान के बाद वर्तमान के बाद अतीत नहीं वर्तमान के बाद अतीत है पहले अतीत है बाद में अतीत परिणाम घट अतीत नहीं होता अतीत परिणाम अभी वर्तमान है उसके बाद वर्तमान रहेगा क्या होगा भविष्य तो होगा अतीत हो जाएगा अभी है वर्तमान है अभी भविष्य तो है अतीत हुआ अतीत हो गया अभी था अभी नहीं है वर्तमान के बाद अतीत आता है वर्तमान के बाद भविष्य तो आता है अतीत काल नहीं अतीत वस्तु नहीं अतीत अतीत परिणाम वस्तु अतीत हो गई ऐसे प्रयोग कब करेंगे नष्ट होने के बाद ये अतीत परिणाम अतीत अनागत वर्तमान रूपता लक्षण परिणाम वर्तमान लक्षणापन्न से गवादेर वर्तमान लक्षणापन्न है गो भटा दे गो है अभी बाल्य फिर कौमार यौवन बार्धक्य आदि अवस्था परिणाम है धर्म लक्षण अवस्था परिणाम लक्षण हो गया वर्तमान लक्षण उसे भी अवस्था है बाल्यावस्था है युवन युवा अवस्था की अवस्था बाल्य के आगे कुमार अवस्था घटादि नाम अभी ये तो गुआदि में तो बाल्य कुमार यौवन कहेंगे घट में क्या है घट में बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था है घट में क्या है नव पुरातनता अवस्था परिणाम नया है पूर्व पुराण हो गया नया घटे कुछ दिन तो दूसरे घट लाया पहला घट पुराना अवस्था परिणाम एवं इंद्रिया नाम अपनी धर्मिणा जैसे भूता में बताया कि इंद्रिय में भी इंद्रिय कर्मी उसमें तत्त नीला की आलोचना धर्म परिणाम इंद्रिय में नीला रूप आदि का दर्शन ज्ञान होता है इंद्रिय में धर्म परिणाम हुआ और जो नील रूपादि का ज्ञान होता है चक्षु के द्वारा तो धर्म से वर्तमानता आदि लक्षण परिणाम वर्तमान अनागत वर्तमान अतीत ये लक्षण परिणाम हुआ आगे वर्तमान लक्षण से पाठे वर्तमान है काले लक्षण से कहीं पाठ है वर्तमान लक्षण से रत्नादि आलोचन से स्फुटत्वास्फुटत्वादि अवस्था परिणाम वर्तमान रचना भी है रत्नादि आलोचन रत्नादि का दर्शन ज्ञान उसमें कई स्फुटत्व तो, अस्फुटत्व आदि अवस्था परिणाम अस्फुट है कोई स्पष्ट हुआ देखते हैं कोई स्पष्ट अस्पष्ट आदि परिणाम होता है स्वयं एवं विधो भूतेन्द्रिय परिणाम इस प्रकार भूतों का परिणाम इंद्रियों का भी परिणाम धर्म लक्षण अवस्था परिणाम धर्मिण धर्म रक्षण अवस्था नाम भेदम आश्रित वेदितव्य धर्मी से धर्म लक्षण अवस्था को भेद मान करके तीन प्रकार परिणाम कहा गया और धर्म से धर्म लक्षण अवस्था को भेद नहीं मानेंगे अभेद मान करके कहता भेदम आश्रित आह परमार्थतस्तु एक परिणाम वास्तव तो एक ही परिणाम है परमार्थतस्तु तू शब्द भेद पक्षाद विषय अस्थित पहले भेद पक्ष को लेकर के परिणाम कहेंगे ये विलक्षण है ये एक एवं परिणाम पारमार्थिकत्व अस्य ज्ञाप्य न परिणाम तो निषिध्य थे अन्य से यह जो परिणाम एक परिणाम एक आ गया ये पारमार्थिक है एक परिणाम ये केवल केवल कहते हैं नहीं कि पूर्व में जो कहा गया वो परिणाम नहीं है उसका निषेध करती है बात नहीं से पारमार्थिक ज्ञाप्य थे ज्ञान कराया जाता है अन्य से परिणामत्व न थे पूर्वोक्त पहले जो परिणाम कहा गया उसका निषेध नहीं करते हैं वो भी परिणाम धर्म लक्षणावस्था परिणाम है किंतु यहाँ अभेद मानने से धर्म धर्मी में एक ही परिणाम है तस्मात धर्मी स्वरूप मात्र ही भाष्य में धर्मी स्वरूप मात्र ही धर्म जो धर्म है धर्म से कोई अलग नहीं है मिट्टी है पृथ्वी धर्म घटा दे धर्मी स्वरूप ही है धर्मी विक्रिया एवं ऐसा धर्म द्वारा प्रपंच देती धर्म कह करके धर्मी पृथ्वी रूप धर्म का ही विकार है पृथ्वी में विकार हुआ वो घट आदि शब्द से धर्म के द्वारा उसका विस्तार करके कल्पना करते हैं ठीक है मनु यदि धर्मी विक्रिया एवं धर्म धर्म में विकार हुआ वही धर्म है कथन तरी असंकर प्रत्यय लोक के परिणाम से विचता है लोके शु असंकर प्रत्यय बीच में देना तो नहीं चाहिए असंकर का तो संकर होता है मिश्रण असंकर पृथक पृथक अलग अलग प्रत्यय ज्ञान होता है परिणाम में ये अलग अलग परिणाम ज्ञान कैसे होता है यदि धर्म धर्म का ही विकार है धर्म अलग है नहीं तो धर्म में फिर विकार धर्म विकार लक्षण विकार अवस्था परिणाम कैसे व्यवहार होता है तो उसका उत्तर देते धर्म धर्म द्वारा धर्म द्वारा धर्म प्रपंच धर्म धर्म द्वारा नहीं कहा धर्म धर्म द्वारा प्रपंच धर्म द्वारा प्रपंच कौन धर्मी विक्रिया धर्म कथन करके धर्म की विक्रिया कहते हैं धर्म शब्द न धर्म लक्षण अवस्था परिकीर्तनते जैसे धर्म कहते हैं धर्म ही धर्मी की विक्रिया धर्मी का परिणाम है धर्म शब्द से कहा जाता है केवल धर्म नहीं धर्म से भी लक्षण से अवस्था से भी धर्मी का ही विकार धर्मी का ही परिणाम एक ही है उसको अलग अलग बताते हैं धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और परिणाम तो जो धर्म द्वारा ऐसे भाष्य में आया ये धर्म शब्द से धर्म लक्षण अवस्था तीनों रहना धर्म के द्वारा लक्षण के द्वारा अवस्था के द्वारा धार्मिक का ही परिणाम बताया जाता है विस्तार करके परिणाम तो धार्मिक का ही है तद्वारे न धार्मिक एवं विक्रिया इति एकाच ये धर्म लक्षण अवस्था के द्वारा एक ही धर्म के पृथ्वी उसमें विकार है परिणाम एक ही असंकीर्ण एक ही है तद्वारा तद्वाराणाम अभेदे ये धर्मी तो एक ही धर्मिण परस्पर असंक्रांत द्वाराणाम अभेदे तद्वाराणाम असंकीर्ण विक्रिया एक ही उसके द्वारा अभेद होने पर भी धर्मिण धर्मी से भिन्न नहीं कोई कर्म परस्पर असंग परस्पर मिश्रण नहीं होता है धर्म अलग और लक्षण अलग अवस्था अलग है धर्मी से भिन्न नहीं होने पर ही परस्पर भिन्न है जैसे मिट्टी से भिन्न नहीं घट शराब आदि किंतु घट शराब परस्पर भिन्न है मिट्टी से घट भिन्न नहीं मिट्टी से कपाल भिन्न नहीं मिट्टी से पिंड भिन्न नहीं किंतु मिट्टी से पिंड बनेगा कपड़ा बनेगा घट बनेगा वो परस्पर भिन्न है ननु धर्मिणो धर्माणाम अभिनत्वे धर्मिणो अध्वनाम च भेदे धर्मिणो अनन्यतेन धर्मिणा धर्मिणा यह भवितव्य मित्रता ननु धर्मिणो धर्माणाम अभिनत्व धर्म धर्म से भिन्न नहीं है घट आदि जितने धर्म है धर्मी पृथ्वी के भिन्न नहीं है धर्मिण अध्वानांश भेद धर्मी से अध्व यदि लक्षण भिन्न होंगे धर्मिण अध्वानांश भेदे धर्मिण अनन्य अन्य धर्म धर्म तो धर्मी से अभिन्न हुआ तो धर्म हो गया धर्मी से अभिन्न अन्य धर्मेण आप ही यह धर्मीगत तो भवितव्य धर्म से अनन्य हो गया धर्म धर्म यदि अनन्य अभिन्न हुआ धर्मी जैसे है धर्म ये चलेगा धर्मी जैसे धर्म भी चलेगा तो धर्म में अलग अलग नहीं होना चाहिए धर्म एक ही अतः मतलब तत्र धर्म से धर्मिणी वर्तमान से एवं अध्वसु अति तरणागत वर्तमानेशु भाव अन्यथात्म भवती न द्रव्य अन्यथात्म यथा सुवर्ण भाजन से भित्व अन्यथा क्रियमाण से भाव अन्यथात्म भवती न सुवर्ण अन्यथात्म धर्म से धर्मिण वर्तमान से धर्मिणी वर्तमान से धर्मी सुवर्ण में धर्म वर्तमान है धर्मी सुबंध उसमें धर्म है कटक कुंड राजी अध्वसु एवं अध्वसु अतीत अनागत वर्तमान सु काल है अतीत अनागत वर्तमान धर्म हो गया कुंडल बन गया तो अनागत बन गया तो वर्तमान आगे नष्ट हो तो अतीत हो गया इसमें धर्म से भावान्यता तुम धर्म में वर्तमान धर्म वो धर्म अलग अलग हुआ कुंडल में अतीत अनागत आदि न द्रव्य में था तो द्रव्य सुवर्ण ही एक ही अलग अलग नहीं हुआ यथा सुवर्ण भाजन से सुवर्ण से पात्र बनाया भाजन अन्यथा क्रियमाण से भित्व अन्यथा क्रियमाण से उसको तोड़ करके अन्य प्रकार बना बना दिया भाव अन्यथात्म होती पदार्थ तो अन्य हो गया किंतु सुवर्ण तो रहा वही सुवर्ण न सुवर्ण अन्यथात्म सुवर्ण तो धर्मी एक हुआ पदार्थ पहले कुंडल साकट को भूषण मुकुट आदि बन गया भाव पदार्थ धर्म तो भिन्न हो गया किंतु धर्मी सुवर्ण एक है टीका में भाव का तो संस्थान भेद भाव अन्य था तुम भाव तो सत्ता पदार्थ है तो यहाँ भाव सत्य से संस्थान भेद अवयव का सन्निवेश होता है संस्थान सम्यक स्थान अवय का संयोग से संबंध अवय के संयोग से अलग अलग रूप हो जाता है घट कटक कुंडल आदि सुवर्णादेव यथा भाजन से रुचक सस्तिक व्यपदेश भेद भवती सुवर्णादेव यथा सुवर्ण से निर्मित पात्र उसे रुचक भूषण सस्तिक अलग अलग भाव अलग अलग भूषण बन जाते हैं तन्मात्र अन्यथा भवती केवल भाव संस्थान अवय समय से अवय भी भिन्न भिन्न हो जाता है न तो द्रव्यम सुवर्णम असुवर्णता मुपेगी जो द्रव्य सुवर्ण द्रव्य है उसमें असुवर्णता आ जाती है इतना तो तोड़ करके दोबारा बनाओ दूसरे बना तीसरे बना बनाते रहते हैं तो सुनना ही है अत्यंत भेदाभावादिति वक्षमान अभिसंधि ये अभिप्राय है धार्मिक में अत्यंत भेद में एक है धर्म भिन्न भिन्न है एकांतवादिन बौद्धम उत्थापय थी एकांतम बदती तो एकांतवादी बौद्ध है वो तो कहते हैं धर्मी नाम को कोई वस्तु है ही नहीं सब अलग अलग दिखता है वही कुंडल दिखता है कुंडल हो गया कटक कुंडल समाप्त हो गया कटक हो गया प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश है तो धर्म कुछ अलग वस्तु है ही नहीं बौद्ध मुताबिक अपर आह अन्य कहते हैं धर्मान अभ्यधिको धर्मी पूर्व तत्व अनतिक्रमात पूर्वापर अवस्था भेदम अनुपतित कौकृत्यन विपरिवर्तित यदि अन्वेषादि धर्म अनभ्यधिक धर्मी धर्मी धर्म से अतिरिक्त नहीं है धर्म जो दिखता है कटक कुंड आदि उससे अतिरिक्त सुवर्ण नाम को पदार्थ नहीं है अनाधिक धर्म को अधिक नहीं है धर्म पूर्व तत्व अनतिक्रमा पूर्व तत्व का अतिक्रम नहीं होता है पूर्व जब धर्म वही रहेगा तो आगे उसमें धर्म बदलने पर पूर्व तत्व एक रहेगा अतिक्रमण नहीं होगा उसका अर्थ पूर्वापर अवस्था भेदम अनुपतित पूर्व और अपर अवस्था भिन्न होने पर भी यदि एक रहेगा धर्मी अनुपतित अनुगत हुआ तो एक ही यदि पूर्व अवस्था में उत्तर अवस्था में रहे तो फिर तो वस्तु धर्मी एक हो गए ज्ञान से पौट्यम विपरिवर्तित यदि अन्वेषा पूर्वावस्था उत्तर अवस्था यदि अन्वय संबंधी एक हो तो कुटस्थ होकर के परिणाम होगा कुट उधर उपद्रूप रह करके परिणाम हुआ भाव अन्यथा नहीं होना चाहिए बहुत लोग मानते घटना को कोई अलग अवयव है नहीं परमाणु पुंज कहते हैं सब नष्ट होते उत्पन्न होते हैं प्रतिक्षण अन्यथा अन्यथा जैसे कुंडल कटक मुकुट आदि तोड़ एक नया बनाए उसको तोड़ के नया बनाए एक ही धर्मी अनुगत है ऐसे नहीं मानते हैं जिस समय जो दिखता है वही है तो अध्यास समाप्त हो गया नहीं तोड़ो तो भी नष्ट हो जाता है प्रतिक्षण अलग अलग होता है तो कोई ऐसा नहीं धर्मी नाम तो स्थिर वस्तु नहीं जो पूर्व उत्तर दोनों अवस्था में पूर्व काल उत्तर काल में संबंधी होगा यदि संबंधी होता है तो कुटस्थ रहेगा परिणाम नहीं होगा हमेशा रहेगा एक रूप रहेगा ठीक है धर्माय वही रुचकादेश तथा चतुर्पन्न है परमार्थ संतो न पुनः सुवर्ण नाम किंचित एकम अनेक अनुगतम द्रव्यमति ये कहते जो रुचक कटक कुंडलादि भूषण है वो तो धर्म ही है धर्म नाम का सुवर्ण को है ही नहीं तथोत्पन्न जिस समय जैसे उत्पन्न हो गए वही परमार्थ संत वही वास्तव सत्य यद यह सत क्षणिकम व्याप्ति है यही सत्य है अर्थात उससे भिन्न कोई धर्मी सुवर्ण है ही नहीं न पुनः सुवर्ण नाम किंचित एकम अनेक से अनुगतम द्रव्यम एक सुवर्ण नाम को अनेक पदार्थ में अनुगत कुंडल हो कटक हो मुकुट हो तोड़ करके बनाते जाते हैं जितने बना सर्वत्र एक सुवर्ण अनुगत समय एक सुवर्ण है ऐसे मानते हैं बौद्ध लोग कहते सर्व में अनुगत सुवर्ण नाम को कोई वस्तु है ही नहीं जो दिखता है कटक कुंडल वही है नष्ट हो गया दूसरा हो गया और सुवर्ण नाम को कोई वस्तु नहीं कि जो पहले था वो आगे रह गया यदि पुनर्निवर्तमान सभी धर्मेशु निवर्तमान सभी धर्मेशु द्रव्यम अनुगतम हरे धर्म निवृत्त हो गया कटक कुंडल नष्ट हो गया धर्म नष्ट होने पर भी द्रव्य सुवर्ण एक अनुगत मानेंगे तथो न चिति शक्तिवत परिणाम भी परिणमित अभी तो कौटस्थ्य न विपरिवर्तित चित्ती शक्ति जैसे नित्य है इसी जो मानते हैं चित्ती शक्ति इस प्रकार उसका परिणाम नहीं होना चाहिए एक अनुगत सर्वदा यदि है तो कुटस्थ हो जाएगा कौटस्थ्य न विपरिवर्तित कुटस्थ से परिणाम होगा तो कुटस्थ परिणाम होगा और एक कूटवत निर्विकार रहता है कोई परिणाम विपरिणाम विरुद्ध विरुद्ध परिणाम नहीं होना चाहिए परिणामात्मक रूपम परिहाय रूपांतरण कौटस्थ्यन परिवर्तनम परिवृत्ति ये परिवृत्ति वासी में आया विपरिवर्तित कौटस्थ्यन विपरिवर्तित यदि अनुविचार विशेषण परिवर्त परिवृत्ति क्या है परिवृत्ति का अर्थ करते हैं अभी तो कौटस्थ्यन में विपरीत परिणामात्मक रूपम पर्याय परिणाम स्वरूप रूप परिणामात्मक रूपम परिणाम रूप को छोड़ करके यदि रूपांतरण कौटस्थन विपरिवर्तन तो पर्याय रूपांतरण कौटस्थन परिवर्तन अन्य रूप परिणाम रूप को छोड़ करके कूटस्थ है रूप है कूटस्थ रूप परिणाम नहीं है परिणाम रूप नहीं रहेगा खाली एक रूप रहा कुटस्थ रूप उसी कौटस्थ में परिवर्तन कुटस्थ होकर के परिवर्तन होता रहता है इसका नाम परिवृत्ति कुटस्थ ही रहेगा यथा चित्ती शक्ति अन्यथा अन्यथा भाव भजमाने सभी गुणेश स्वरूपाद प्रचुता जैसे गुण अन्य अन्यथा अन्यथा होने पर भी चित्ती शक्ति एक रूप रहती स्वरूप से प्रस्तुत नहीं होती इसको कहते कूटस्थ नित्य और प्रकृति को ये मानते हैं नित्य तो मानते परिणामी नित्य चेतन को कहते कुटस्थ नित्य यदि अन्यथा परिवर्तन धर्म नहीं होकर के परिणाम नहीं होकर के कुटस्थ होकर के रहे तो फिर चित्त शक्ति जैसे अन्यथा भाव नहीं होती है गुण अन्यथा होने पर भी चित्त शक्ति एक है इसी प्रकार स्वरूप से अपरिचित होकर कुटस्थ नित्य होना चाहिए इसी प्रकार एवं सुवर्ण सुवर्ण आदि अभी सियात सुवर्णादि द्रव्य भी चित्ती शक्ति के समान कुटस्थ नित्य हो जाए न चैष्यते ऐसा नहीं उसका तो परिणाम होता ही रहता है कुटस्थ नित्य नहीं है तस्मा न द्रव्यम अतिरितम धर्मेभ्य इसे सिद्ध हुआ धर्म कटक कुंडल मुकुट आदि से सुवर्ण नाम का द्रव्य अतिरिक्त है ही नहीं है इसी प्रकार पट आदि से भिन्न द्रव्य तंतु भट शराब आदि से भिन्न मिट्टी कुछ अलग है ही नहीं सुवर्ण आदि भूषण पटक आदि भूषण से अलग सुवर्ण नाम के वस्तु है नहीं यहाँ तक हो गया बौद्ध मत का आक्षेप इसका समाधान आ गया